कल मैंने मन के कुछ कोने देखे कल मैंने मन के कुछ कोने देखे कुछ झिलमिल रंग सलोने देखे चोट लगी मन की दहरी पर चोट लगी मन की दहरी पर अनगिन ने दिठौने देखे कल मैंने मन के कुछ कोने देखे इस आपाधापी के जीवन में कुछ पल ठिठके ठहरे देखे इस आपाधापी के जीवन में कुछ पल ठिठके ठहरे देखे दूसर मटमैली दुनिया के कुछ मन सुख रंग सुनहरे देखे कल मैंने मन के कुछ कोने देखे इस पाप पुण्य की दुनिया में कुछ उजले कल कल सोते देखे मन के वीराने वन प्रांतर में खिलते कुछ हरियल पौधे देखे कल मैंने मन के कुछ कोने देखे ये मिला नहीं वह छूट गया ये मिला नहीं वो छूट गया पाया वह भी कुछ टूट गया ये मिला नहीं वो छूट गया पाया वह भी कुछ टूट गया वो खोए पाए के मन झंझट से उबरे मन के अतरे कोने देखे कल मैंने मन के कुछ कोने देखे कुछ झिलमिल रंग ने देखे कल मैंने मन के कुछ कोने देखे